ए मेरी कौम आज तुम्हारी हुकूमत है और तुम जमीन में गालिब हो फिर कौन हमारी मदद करेगा अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया फिर ने कहा मैं तुम्हें वही राय देता हूं जिसे मैं मुनासिब समझ रहा हूं और मैं तो तुम्हें वही रास्ता बताता हूं जिसमें भलाई है